ी जब संभु सिधाय तब प्रभु निकट नटिषनुवा नाय चरण कह कहमृदुबाणि विनय सुनहु प्रभु सारङ्गपाणि चकुल सदल प्रभु प्रावन मार्यो पावन जस त्रिभुवन बेस्तार्यो दीन मदीन हिनमति जाति मो पर कृपा बहु भाति जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु मेरी विनती सुनिए आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की अब जन गृह पूत प्रभु की जय मजनु करिय समर श्रम थी जय देखि को समिर सम्पदा देहु कृपाल कपिन कहु थ मोहिना पुनि मोहि सहित अवधपुर सुनत बचन मृदु दीन दयाला सजल भये दौ नयन विशाला अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए हे कृपालु खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दीजिए हे नाथ मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभो मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीनदयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया तोर को गृह मोर सब सत्य बचन सुनि भ्रात भरत दशा सुमिरत मुहे निमिष कलप समझात तापस वेश गात कृथ जपत निरंतर मोहि देखो बेग सुजतन करो सखान हो तोरी श्री राम जी ने कहा हे भाई सुनो तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है यह बात सच है पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहा है हे सखा वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ बीते अवधि जाम जाओ जियतन पीर सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर करहु कल्प भर राज तुम मोहि हु मन माही पुनिमम धाम पायहु जहाँ संत सब जाए यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है श्री राम जी ने फिर कहा हे विभीषण तुम कल्प भर राज्य करना मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं